वाह जी वाह बहुत अच्छा दरबारी पेश किया गुरुदेव सिंह ने गुरुदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज़्यादा सुनना चाहते हैं लेकिन बाहर के कलाकार आए हुए हैं थोड़े से शाहबाज हुसैन के लिए भी सरोद वादन के बाद अब गायकी का बहुत ही अजीम कारनामा आपके सामने होने वाला है मैं थोड़ा सा उसका नमूना मैंने देखा है बैक स्टेज पे वो कहते सामरी ना जादूगर था ये आज दो जादूगर आए हुए हैं और ध्रुपद के जादूगर हैं दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ध्रुपद हमारे संगीत की बहुत पुरानी शैली है और इसके जो गायक हैं वो गिने चुने हैं उंगलियों पर गिने they are such wonderful bewitching artist and you love them you be delighted to listen to them I just had a taste what dhrupad can be dhrupad के जैसे मैंने अर्ज किया दो तीन चार नाम हैं सिर्फ डागर ब्रदर्स लेकिन डागर ब्रदर्स को आगे चलाने वाले ये कलाकार हैं गंडेचा ब्रदर्स इनका बहुत बड़ा नाम है श्री उमाकांत जी और रमाकांत जी दोनों भाई हैं आज के कार्यक्रम की आखिरी ये आइटम होगी आप बहुत खुश होकर जाएंगे पखावज पे संगत करेंगे श्री उद्धव राव शिंदे जी बहुत बड़े पखावज वादक के शागिर्द हैं पद्म भूषण शंकर बापू आपे गोवंकर के ये शिष्य हैं और मैं चाहूंगा किन कलाकारों का स्वागत किया जाए स्टेज पर ज़ोरदार तालियों के साथ तानपुरे पे दो तानपुरों पर संगत करेंगी जूडिथ रस्ट उस तरफ हैं इनका स्वागत कीजिए और शोभना पटेल इस तरफ है तो आइए ध्रुपद का रसपान करें दोस्तों इतने बड़े अजीम कलाकार आए हैं हजूर हम आपको अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं वो जिगर का शेर है ना आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं और आपका मिलना और हमसे मिलना आप किसको नसीब होते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो हम मैं भी ऑडियंस में जाके आपको सुनूंगा एक बार फिर लंदन में आपका खैर मकदम बहुत बहुत स्वागत